और अगर अल्लाह लोगों के हर करतूत पर उनकी पकड़ करने लगता तो इस जमीन की पुष्ट पर किसी चलने वाले को न छोड़ता लेकिन वो एक मुयन मुद्दत तक के लिए उनको मोहलत दे रहा है फिर जब उनका मुकर्रा वक्त आ जाएगा तो अल्लाह अपने बंदों को खुद देख लेगा